साधन और साध्य दोनों एक साधन और साध्य जहाँ एक हो जाता है ही हाँ, नहीं कभी न तपस्या बनती न बनता कुछ नहीं बनता केवल चैतन्य अरे वहां तक जाने का है सबको एक जगह पे जाने का है हाँ। जैसे लास्ट स्टेशन हाँ। इससे आगे कोई स्टेशन नहीं तो अक्रम विधि आती अक्रम विधि वो क्या है आपकी अक्रम विधि है वो क्या है उस अभी स्वामी शिवशंकर ना मार्ग जो है वो धोरी मार्ग है राजमार्ग है वही सच्चा मार्ग है बोध का अक्रम इसका सच्चा मार्ग है अक्रम तो डाइवर्जन मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग टूट जाता है और मार्ग नुकसानकारक हो जाता है सिर्फ डाइवर्जन मार्ग टूटता होता है फिर वो मार्ग पूरा अच्छा हो जाएगा फिर डाइवर्जन बंद हो जाएगा है सड़क पूरी बनने के बाद डाइवर्सन की जरूरत नहीं है वो डाइवर्जन मार्ग है अक्रम એટલે ક્રમ નહીં ક્રમિક એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમિક માર્ગ હા. Step by step step by step step by step આગળ ચલી જાઓ મોક્ષ તરફ અને અક્રમ એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ની રીત માર્ગ જ્ઞાની પુરુષની રીત પર બેઠ ગયો दूसरा कुछ करने का ज्ञान पाया आज तक ठीक है सर वो कहते हैं कि दूसरे ज्ञानी की लिस्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक हैं? બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं हो रहा है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो भ्रम नहीं था हाँ हाँ कारण वो औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ जो हुआ था एक भ्रम- अक्रम था नहीं तो क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में इनका अक्रम ज्ञान ऐसे संबंध लोग कि असोचा केवली सारे अक्रम ज्ञान और हाँ क्रम में ऐसा नहीं होता है ब्रह्मा तो क्रमिक पूरे होना चाहिए और प्रीति से जुड़ा होना चाहिए स्थिति के अर्थात वो नहीं चलेगा ब्रह्म में क्या बोलता है कि नवमा गुण स्थान आगे नहीं जाता स्त्री की साथ हम्म। गुण स्थान आगे नहीं जाता पर वो अक्रम है तो उसको कोई क्योंकि आपका बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा ये प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खराब हो जाता है जिधर कम बंधाता बंद हो जाता है कर्म भी बंधाता है वो इधर हंसते धंधा करते खाना खाता है पीते पर धर्म कर्म बंधाता नहीं होता एक एक एक अवतार का बंधाता है हमारी आज्ञा पास से पास है पांच आज्ञा दिया है अच्छा। वो निरंतर है चौबीस कलाक निरंतर ऐसा बीस हजार है हाँ, क्या निरंतर चौबीस हमारी पाता है कर्म जिम्मेदारी हमारे क्या कुछ है पांच आज्ञा क्या है वो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर જરૂર આપને હેલ્પ નહીં કરે आपको हम बताता है हम धीरे से कुछ हाँ। क्या देता है हम्म। तो। हम्म। तो खुद का आत्मा भी इसको दिखाने में आता है दर्शन में आता है हाँ। और दूसरा का आत्मा भी दर्शन में आता है हाँ। आप समझ कोई भी चीज जीवात्मा के साथ गदा देख आपके अंदर सब सबके के वो सब देख देख सकता है आपका हाँ। आपको भी देख सकता है आपका आत्मा भी देख सकता है हम्म। तो ये आंसर से आपको देखता है हम्म। और ये से आप इससे वो दो दो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारे कैसे देखने का आपको हाँ। दो आज्ञा हाँ, ये प्रज्ञा का काम इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम प्रज्ञा प्रज्ञा जो बुद्धि से आगे वो सबको प्रज्ञा ही हो गई हाँ जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है हाँ, तब तक तो ये आप और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है आदमी को हमने बोला है कि एक चिंता था तो हमारे पास और चिंता भी नहीं भूत कहती है समाधि निरंतर समाधि रहना चाहिए हाँ, निरंतर समाधि हम्म। और भारत की साथ लड़के की साथ कोई भी कोई भी स्टेज में समाधि रहना चाहिए विज्ञान चौबीस तीस मेरा विज्ञान नहीं है तो हाँ। मैं तो उनका निमित्त हूँ विज्ञान मेरा नहीं सॉरी चेतन का भगवान का मैं तो उसका निमित्त हूँ खाली समझे वो सब लोग क्या बोलता है कि क्या अपना मार्ग दादा भगवान का ये चले नहीं महावीर भगवान का शासन बचता है क्या बचता है महावीर भगवान का और हम इसका तलक है हाँ, हाँ। आपने ये कैसे प्रकटा आपने ये कैसे प्रकटा कोई ऐसे खटक रहा है हमने कुछ किया नहीं निमित्त कैसे बन गया निमित्त बन गया तेरा वो तो निमित्त कैसे बन गया निमित्त कुछ नहीं हुआ एक में बैठ बैठा और जो यार करके देखा मैं हाँ। साढ़े पाँच बजे हाँ। दूध का दिन दे टेबल हाँ। दे जेल में तो यार किया और दूध का टेबल साढ़े पाँच बजे ऊपर गया छः बजे तो छः बजे बैठा वो चालू हो गया बांकड़ा में नहीं तो ये जो आपकी भाषा है यह जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपकी ये संस्कार आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे गुजरात की भाषा जो निकली ये पहला संस्कार के था पहला संस्कार था वाणी अच्छा तो हाँ बिल्कुल क्या करेगा उसका सिर टूट जाता है सामान का तो हेल्प नहीं करता है हम्म। कभी इमोशन से खड़ा हो तो गया वो दिन वो दिन ज्ञान हो गया वो दिन इमोशन खराब हो गया ममता भी खराब हो गई हम्म। सब दुनिया कैसे चल रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किसने बनाया कैसे चलता है किस घर से चलता है रॉन्ग में क्या है राइट में क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी घूम रही है देखो रॉन्ग बिलीफ से घूम रही है सभी रॉन्ग बिलीफ है हाँ तो कोई भी जात की बिलीफ रॉन्ग ही है तो ये महावीर की भाषा सब प्रगति है हाँ। એ મહાવીર की भाषा सब प्रगति એ વખતે મહાવીર ની ભાષા પ્રગટ થઈ बस ये- वही clear है बस। ये हम क्या पूछता है ये क्या क्या नाम से करता है જેઠાભાઈ જેઠાભાઈ जेठा खरेखर जेठा भी खरेखर जेठाजी છો તમારું નામ લીધા છે તમે લીધા છે કે તમે બતાવી પડ્યા છો એક સાધુ છે સાધવી છે લોકોને ઓળખવાનું જે સાધન જે સાધન જે તમે દબાઈ પડે હું છું આમાં તમને રોંગ બિલીફ બેસી તમે જે છો જાણતા નથી અને નથી તેનો આરોપ કરવો કે that is first wrong belief અને પછી આ બાળકો ભણીશ તો બીજી રોંગ બિલીફ હું જઈશ ત્રીજી રોંગ બિલીફ હું પચાસ વર્ષનો ચોથી રંગલી હું બોલો છું પાંચથી રંગલું वो मानव स्वरूप हुआ तो कितनी राम की हो गई नामकरण की सारी प्रकृतियां ही आरोपित तो है ये नामकरण की सारी प्रकृति नाम कर्म कर्म कर्म नाम कर्म अरे कर्म नाम कर्म की सारी प्रकृतियां आरोपित ही है तो फिर ये वो रामगलित तत्व है हाँ। वो रामगलित ज्ञानी पुरुष क्या करता है रामगलित को फ्रैक्चर कर देता है और राइट मिलिट कैसा दे रहा है राइट मिलिट साइड में जिसको समझ नहीं होता है वो बैठा रहता आप ये है ये नहीं है आप ये है यही तो भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही भेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अकम्मा जाने पासी अकम्मा जाने पाती अकर्म जानता है देखता ये दुनिया में कोई आदमी माँ खाने को पसंद करे करता है ना हाँ? कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं पसंद है नहीं हमारे यहाँ भी सजा आदमी माँ खाने से उसको समाधि होती है ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मतलब माँ खाने से ज्यादा समाधि कैसे कैसे मार खाते हैं कैसे मार खाते हैं क्या है કેવી વિધિ છે મહારાજ તે પર હાથ હાથ બની હાથ બની ગઈ. એક એક એક એક જબર તો એક એક ચાલ, ચાલ, બરાબર છે. આ તો એ જતા માણસો બધા માર થઈ ગયેલા જાય. આ રીતે તમારી છે, એકવાર મોક્ષ છે, આત્મા મોક્ષ છે, ભલે છે આપણે. હા, હા, એ તો છે. जैसे प्रयोग है આ ભગવાન કહેવાય ચિંતકોનો મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી શું દુઃખ થાય છે કોઈ દુઃખ હોય નહીં तुमको क्या लगा है क्या लगा तुमको वो सब ब्रह्मचारी है बात सब ब्रह्मचारी मन नहीं, में नहीं, क्या काय लगा એમ तुमको પૂછે છે તમને तुमको नहीं क्या नहीं नहीं, मुझसे पूछ रहा हाँ એમને પૂછે છે કે तुमको क्या लगा જબ શું મોટા પેલું બોલવું પડે કાયદો છે તું પાછા જ્ઞાન રહું કેટલો ભલો નિરંતર નિરંતર તને ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસારમાં રહું છું ને नहीं कष्ट होगा નહીં કશ નહીં हुआ नहीं दो बात है एक तो कष्ट होता है और हम सब भाव से सहन करते हैं एक तो कष्ट होता है उसको सम भाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है बताओ दो बातें अलग है एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल भाव में रह जाए एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती हमारा संभव नहीं ये तो कुछ नहीं रखता कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख ले एक तो यह स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन भी समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती है સાહેબ એક તો પક્ષ નો સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવમાં રહે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય કે તને શું રહે તેને પણ મને સંભાવ રહે એને એવું કહ્યું કે મને સંભાવ રહે એટલે એમને કહ્યું બીજી સ્થિતિ એવી છે કે એમાં કક્ષને સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે સંભાવ રહે રાખવો નહીં પડશે સંવેદન જ રહે નિરંતર સ્વસંવેદન સ્વસંવેદન थोड़ा सा हाँ ये समनिया जो बात हमने कल बात की हाँ हाँ थोड़ा सा उधर हाँ હા हाँ हाँ भाई थोड़े से भाई थोड़े भाई इधर हाँ हाँ हाँ आपने क्या कहा मैं सुन नहीं सका हाँ ठीक है साहेब नहीं आप આપ શું કહેતા આ- આ नहीं कष्ट का संवेदन और इस बारे में आप क्या करें કષ્ટનું સંવેદન એમ આપ- એના આપ- એના વિશે કંઈ કહ્યું ને આપણે એમને સ્વ સ્વસંવેદન રહે ત્યાં કઈ બોલ્યો નહીં हाँ नहीं, आज बताइए ये अगर स्पष्ट नहीं कर सकते સ્વસંવેદન રહે હા. શબ્દો એમને ના આવડે આ લોકો હા, ઠીક છે. કોઈ વાત શબ્દો ના આવડે બિચારા આ તો હજુ હે ખાતા નથી આવડતું ठीक है कोई खर्च बात नहीं आप कहिए આ તો જ્ઞાની પુરુષના ખોળા બેઠા એટલે ભગવાન થઈ જાય લે हाँ આ आप कहिए आप ક્યાંથી આવડે એમને? પણ પોતે અનુભવ દિવસ ये आप कहिए आप क्या कहें તમે કહો કે છે તમે કહો એમ. કે શું રહે એમ? ये- એ સંવેદન વિશે આપ કહો એમ ये कष्ट का संवेदन नहीं होता है या कष्ट में संभाव रहता है બે વસ્તુ કહી અમે એક તો ક્લસ્ટર નું સંવેદન થાય ક્લસ્ટર નું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એક વાત અને એનાથી આગળની સ્ટેજ ક્લસ્ટર નું સંવેદન જ ના ક્લસ્ટર નું સંવેદન જ નહીં એક પણ વીસ હજાર માં એક પણ માણસ ને નું સંવેદન જ સંવેદન જ રે સંવેદન પર સંવેદન નહીં સંવેદન તો નહીં પણ जैसे कांटा चूहा अब कांटा चूकता है तो दर्द होता है क्या है तो दादाजी जो हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आप आपने जो कहा ना कि दो परिस्थिति हाँ। होती है तो हाँ। एक परिणाम में हाँ। कष्ट होता है लेकिन उसके प्रति संभव हाँ। यानी उसके प्रति उसका उसका ये एक हथियार है एडजस्टमेंट हाँ, रहा बीच में और दादाजी जो ज्ञान देते हैं उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है तो उसमें ये सब कोई बीच में का मीडियम ही डायरेक्ट ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये स्वरूप दिखाता है हाँ। और खुद ज्ञाता पद में रहता है हाँ। यानी वो दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभव रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा उठे और खुद ज्ञाता है कमे का तो नहीं होता है अहंकार की बात हम्म। है जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है अब ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे सम भाव से खेलते और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की भी दो बनती तो एक तो वह स्थिति बन जाए कि जिसमें अनस्थेसिया की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए या संवेदन आपका जो कहने का मतलब यह है कि बॉडी हाँ। को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो थी वो जो थी बॉडी को इफेक्ट नहीं हाँ शरीर में ये अनुभूति हो कभी कुछ लग रहा कुछ लग रहा पर हाँ। ध्यान नहीं हाँ, ज्ञान नहीं ज्ञान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा आएगा हाँ। लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होगी जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग बीमार के विज्ञान तो ठीक है वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है वेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म। पर समय समझता हूँ इसमें संभाव ही प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उससे भी आगे की स्थिति तो कराया जाता नहीं नहीं नहीं वो जो तो- ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है घंटे तो घंटे तक लगातार देते नहीं नहीं नहीं, <laughs> वो जो ज्ञान देते हैं ज्ञान वेद विज्ञान देते हैं हाँ, हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है उसका हर एक परमाणु परमाणु की तरह अलग है वो अलग बता देते આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે. જ્ઞાન વિધિ શું છે પૂછે આ જ્ઞાન વિધિ શું છે એ પૂછે છે કહું છું. જ્ઞાન વિશે તો સેપરેશન हाँ हाँ ભૂતગલ અને આત્માનું ચેતન नहीं कैसे देते हैं आप શુદ્ધ ચેતન ये तो सिद्धांत तो ठीक है ભૂતગલ તેનું સેપરેશન પણ કેવી રીતે આપણે આ તો સિદ્ધાંત આ થયો શું છે? પણ આ કેવી રીતે આપો છો આપ મેથડ हाँ એના देखा આત્મા- એની પદ્ધતિ શું મેથડ આત્માને એવું બધું હોતું જ નથી हाँ એમને બેસાડી हाँ અને આ જેમ તેમ બોલવાની જ જરૂર છે आप थोड़ा प्रयोग करके दिखा सकेंगे आप? એ થોડા પ્રયોગ કરીને બતાવશો એમ? એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે બધા પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं नहीं कोई आपके जैसे आपको कराया है અગર कैसे પ્રયોગશાળા कराया નથી वो થતી. लेबोरेटरी में आएंगे तब ये એની प्रयोग પ્રયોગશાળા होगा સિવાય પ્રયોગશાળા નથી. विदाउट लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ છે ટાઈમ नहीं अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग नहीं पहुंचे। नहीं नहीं अभी प्रयोग चलो, तारीफ है। प्रयोग कैसे कराते हैं આપના બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે જણ મારી પાસે મોકલો કે તમે આ પ્રયોગ કરીને પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી એમને તમને અહીંયા આગળ સ્વસંવેદનનું જ્ઞાન વર્તે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું એક્ચ્યુઅલ પોતાનું લાઈટ માંથી લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ હળગળ હળગળ એની લાઈટ નહીં થાય નિમિત્ત છે નિમિત્ત नहीं मैं पूछ सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा है आपने किया तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी एक हाँ, ही बार करते हैं एक घंटा हाँ, तो जैसा हमने देखा उस पत्रिका में राधे श्याम जी आए थे उसमें मैं देखा तो उसमें मैं था भी जो यहाँ जो हाँ। हाँ। वो तो समर्पण विधि है नहीं हाँ वो ज्ञान विधि नहीं अच्छा, अच्छा वो समर्पण विधि है ज्ञान विधि स्पेशल दिवस में हाँ। दादाजी अपना ज्ञान का जो सेपरेशन करने का है हाँ। स्पेशल दिन में ऐसा करते हैं अच्छा। समझते हैं हाँ। एक साथ में आपने जो बताया ना ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते हैं उस वक्त अंगूठे को स्पर्श करना पड़ता है अच्छा। और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञान के चरण में अर्पण करते हैं अच्छा, हाँ। और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है हाँ। और फिर दादाजी ज्ञान बताते हैं हाँ। यानी बोलते हैं हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं केवल बोलते जाते हैं हाँ सिर्फ बोलते निकलती है एक एक बार एक एक ये देह एक पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। विवरण करके बताते हैं हाँ। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है हाँ। और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता ज्यादा है तो मतलब पहले समर्पण विधि ठीक जान समर्पण दोनों क्रम दोनों अलग नहीं होता नहीं पहले समर्पण और फिर ज्ञान समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है हाँ। और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसका बस तो है, और वो कहाँ समर- जाता है, किसी का वो नहीं। लेने वो समर्पण यानी वो कुछ ले भी नहीं लेते हे हैं તત્વને હે જ- હે કરીએ છીએ હે તત્વ હે કરીએ છીએ ઉપાધિ ઉપાધિ ઉપાધિ हम्म, जो ઉપાધિ ज्ञान- એના તત્વ ઉપાધિ થઈ જાય છે હે હે થઈ જાય છે પુણ્ય પાપ હે થઈ જાય છે અને જે અનંત કરતા તો ભરેલા પુણ્ય પાપ નો દરિયો છે જ્ઞાનાકૃતિ ફક્ત થઈ જાય એમ કે જે હે મટી જાય પછી ઉપાદેય કશું રહેતું છે ઉપાદેય તો આપણી અંદર જ છે ઉપાદાન પોતે જ છે ફક્ત નિમિત્ત છેલ્લામાં છેલ્લું નિમિત્ત હોય તો ઉપાદાન प्रयोग, बात। मैं नहीं देंगे अभी किया था वो। શું કહે છે? नहीं उनको बता रहे कि मैं जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बाद में आई। हाँ, ये बात है। શું કહે છે? તો પેલો માર્યું ને કે કે બેન આ તમે લોકો આ કે ના અમે નતા हाँ। પેલું માર્યું ને બૂટ માર્યો ને હા. એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછે છે તો કે ના અમે નતા હતા ને તે? हाँ ના, ना હા. પછી આવ્યા. પછી આવ્યા. હમણાં પછી આવ્યા. મેં વિચાર લીધો इसका क्या देख लेगा भीतर है देखने का लोग बाहर से भागते हैं या लोग आते हैं અંદર જોવાનું लोग मार की भागी जा रही है मार खावा આવે खावा हमको बहुत बोलता है हमारे हाथ बोलता है उल्टी बात है ना अपने कहते हैं कि संसार से अपूठा ने मोक्ष से थामा हाँ बताओ એ કે છે આ આ જુદી જ વાત છે ને સંસાર થી અપૂઠા અને મોક્ષ ની આગે वो तीर्थंकर की बात है मेरी बात उसमें हाँ। मैं इसमें निमित्त हूँ खाली हमको लोग दादा भगवान बोलते हैं, मैं ना बोलता हूँ मैं दादा भगवान हूँ मैं ज्ञानी पुरुष हूँ आप दुनिया में कोई भी शास्त्र की कोई भी बात आप पूछो तो इसका जवाब करो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा वो किसी वेदांत हो જૈની જમ હો હો કે કોઈ મુસ્લિમ હો अमेरिका में सब ये का सब हम्म, तो आत्मा का ज्ञानी ज्ञान ज्ञान है नहीं होता वेदांत का दर्शन का अमेरिका का और हिंदुस्तान का हम्म। और ये ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती कि भविष्य को देखने की कोई जरूरत ही नहीं वो वर्तमान में रहता है भविष्य में कभी नहीं गया भूतकाल तो में भी गया नहीं भविष्य में गया नहीं वर्तमान अभी इधर है तो इधर ही घर को नहीं और घर को जाएगा इधर ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना हम्म। इसमें समझ कोई आई आपको तो आनंद हुए नहीं अभी लग रहा नहीं ये प्रयोग है कि में आत्मान बुद्धि में रहे हम बत्तख नहीं है रक्षक है हाँ। ऐसा बत्तख की बाबत किया करता है भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक हाँ, व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चौक कर रहे हैं <laughs> जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है उसने गुरु होता है वह कुम्हार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से तोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है ठीक है કે જે એવું કહે છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહારથી ટીપે પણ અંદરથી એને અંદર રક્ષણ રાખે આપે. ને. हाथ रखता है अंदर हाँ ભોગવો ના પડે ભોગવો ના પડે ભોગવો નહીં. तभी तो कुम्हार कुम्हार कुम्हार तभी तो आकार में आता है કુંભાર કલાકાર કહેવાય અંદર રાખી કભી કભી ઘડા બનતા હૈ કભી ઘડા બનતા હૈ ત્યારે જોડો બને ત્યારે જોડો બને આકાર થાય ત્યારે જોડો બને કેટલા શબ્દ એટલે કહે કઈ ગયો તો ભરત અહીંયા આવી આ બધા આ બધા ભરત ये भरत भाई है और ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब चीज का अनुभव किया हुआ है अच्छा वो इंजीनियर था हाँ। पंद्रह सौ का पगार मिलता था हाँ। उसको हमको एक फरोज मिला तो फिर इनका भाभी तो वही दिया हम हमारे शरीर से ये नहीं निकलाने के पास रहेगा मैंने बोला कि इधर क्या गुस्ताब है हमको गुस्ताब नहीं हम्म। तो बोला आप दाल बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो कभी सभी करो कुछ करो और लग्न करो बाहर तक में लगने को मानता है हम्म। तो ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा हम्म। ब्रह्मचर्य रहना तेरी बात नहीं तो आपसे पूछा करो तो हमको ब्रह्मचर्य दे ब्रह्मचर्य के लिए तो हमने किया हम्म। फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है और इनको ये मानता था कि सब सब मूर्खा दी है वो ऐसा मानता था क्या मानता था सबको मूर्ख अपने को मत आदमी मूर्ख है इसका तो फायदा है सबकी बातें मूर्ख में हम्म, हम्म। तो नहीं तो પછી मैं तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ ये कैसे वो मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ हाँ। दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है और मैं दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ ये दोनों जीवन मैंने जिए है बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये भी एक्सपीरियंस आपके अनुभव याद नहीं आपको बराबर अनुभव पूरा हुआ है नहीं तो इतनी बात हमारे साथ वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है उसको हाँ। अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हैं हाँ। जितने विषय पढ़े ये भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उनसे कितना ज्यादा है उसका मुझे अनुभव फिर एक समय हमको ऐसा बोला हाँ कि दादा आप सस्ता क्यों करता है हाँ। मैंने समझा कि यह हकीकत मदद कैसा है हाँ। मेरे को पत्थर बोले इतना हर्ष नहीं पर उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाड़ी दो मेरे को हर्ष नहीं मगर तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारा हमको हमारे लिए तकलीफ है तुम्हारे पड़े तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलते हैं कि तो, दादा आप सस्ता करते तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे को तो इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब तो लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ में सकता नहीं है तो तीन महीने के बाद लॉ बुक फेंक दिया फिर बुद्धि की बात बोल दिया कि एक सेंट की बुद्धि तुम्हारे पास औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसारिक ही नहीं है हाँ। तो इसको फेंक दो तो फिर जब भी मेरी घर पर्दा किया बड़ा किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है को होता है हम हाँ। समझ गए सच्चा आदमी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको हम्म। पैसे की नहीं हाँ। की नहीं पैसे की नहीं आदमी कहाँ मिलेगा मुश्किल हम मैंने बता दिया कुछ भी नहीं है जीरो फिर इनकी जीरो हो गई जब आबादी बढ़ना समाप्त हो गया इसकी आबादी शुरू हो गई इसके बाद यह मेरी जीरो એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई यहाँ जय जय ये और इनका फादर हाँ दोनों बॉक्सिंग करते लड़ते बरबर हाँ मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बताता था मेरा फादर का दोस्त था फादर बड़ा है साठ पासठ आदत का वो बोलता है कि लड़का था कोशिश तो कर फिर वो इतना इतना अवसर की एक आठ हो गई है घंटी पड़ गई तो फिर हमको बोल दिया कि आप पूछ करके घंटी निकालो तो हमने बोल दिया तुम आस्ते आस्ते निकालो हम तो ऐसी का निकाल ये दोनों बोलने लगा था हमने एक घंटे में गर्दी का तोड़ दिया हम्म। फिर ये दोनों को कुछ दिखता है न्यायी हम्म। बात बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, मनोबल वचन बल भाग बल तीनों होते हैं हमारे गाय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत की बल है नहीं गाय बल से मतलब चर्बी वाला कार्यबल ये चर्बी वालों का कार्यबल नहीं होता कार्यबल होता है कि जिसके हर खेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाए तो अभी अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये होता तो इसको सबको आदर में है अच्छा राजस्थान विभाग से पहुंचे हाँ। हो विष्णु भैया विष्णु भैया हाँ अच्छा आगे इधर इधर हाँ इधर आप विष्णु पाठक हाँ, हाँ पाठक हमारी पाठक हाँ हाँ आगे हम छोटा सुनिए फिर हाँ, पूरा आपका परिवार आ गया बस थोड़ा बहुत काट बस अरे हम आए ये हैं। मतलब है नहीं हाँ संख्या से मत हाँ, ठीक है। गुणात्मक लोग हाँ क्वालिटी કે બધા આપણો પરિવાર આવી ગયો છે ये मेरा कोई नहीं मैं ऐसा हूँ मेरा कोई आप इनसे ऐसी बात है तभी तो परिवार बन कोई चीज मेरी अभी कोई ले हाँ। तो नहीं तो लेकर नहीं मेरी कोई चीज नहीं मैं का निरंतर ज्ञानी को भी लेबोरेटरी रखनी पड़ती है क्या लेबोरेटरी को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है हाँ। ये आश्चर्य लगता है निरंतर ज्ञानी जो निरंतर ज्ञानी है उसको लेबोरेटरी होते हैं हाँ, हाँ। એ પેલું તો આપણે જ્ઞાન વિધિની વાત કરી ને કે અહીંયા નહીં પણ આ લેબોરેટરીમાં અપાય તો કે છે કે જ્ઞાનીને જેને નિરંતર લેબોરેટરી હોય એને ખાસ લેબોરેટરીમાં કામ કરવું પડે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું શું કરવું પડે પેલો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરીમાં થશે અહીંયા નહીં થાય सूर्य का असर है हमारा खाना नहीं खोजा खाएगा नहीं खाएगा पर पहला खाता है ये खुद ही नियम होता है नियम देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है नियम तो होना चाहिए कोई नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होने चाहिए अभी कोई आदमी इधर सो जाएगा कितना खराब दिखाता है और आपके नहीं सो जाएगा तो भी खराब दिखाता है नहीं, नहीं, ऐसा कोई नियम होना चाहिए हाँ आपको ठीक नहीं लगा आपका आशीर्वाद चाहिए हमको नहीं ये सबको ये ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દક્ષિણાવરણનું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનું વિશેષ હોય हाँ, प्रभाव निमित्त પ્રભાવ रात એનો को बनता વધારે है હોય. इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टयी के साथ ही हो सकती है शायद कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग डेज हाँ तो आज वो सब तैयारी है नमस्ते जैसे टाइम मेरी बात आपको समझ का हाँ। तो कोई प्रश्न नहीं है आपको संतोष हुआ है नहीं हुआ तो है संतोष टाइमिंग चाहिए कितना हम्म। तो उसकी कार्य होता है कार्य नहीं होता है अपना अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सर्कम से एविडेंस जगह हो जाता है सब कार्य का होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल ज्ञान होने की सुविधा हो जाती है वह स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે સિદ્ધ શિલામાં જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ને ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાઈ છે કાળ नहीं नहीं सिद्ध शिला एक स्थान हमारे यहाँ मनुष्य लोग મનુષ્ય લોકો हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है वो अन्नाड़ी में इसमें चले गए ના એ કે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે हाँ भाई क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ क्षेत्र का प्रभाव काल का प्रभाव वृद्धि का प्रभाव भगवान को भी आर्य देश में से जो विधि देश तो उसके लिए कोई अलग ऐसे देश क्षेत्र काल विधि तो जैसे होगा तो होगा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब हम शक्ति को अपने मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी खिला सकते होते हैं समय को भी उसमें पैदा कर सकते हैं वो कैसे कि भगवान महावीर वितरा बता ભગવાન મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને ક્ષેત્રે આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય હવા પુરુષોનું કંઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट अ सेंस सामर्थ्य हम्म, हम्म, ये नहीं होता है हमको भी सामर्थ्य नहीं बिल्कुल नहीं होता ही नहीं है देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ हम तो अपने पोता खुद का खुद का पोता बना नहीं है हम खुद से ले जाता है तो हमको हमको ले जाता है नमो वितराता है संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत नहीं संतोष नहीं चाहिए। नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ हाँ इसलिए संतोष है કે તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું છે એટલે સંતોષ છે हाँ नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना मैं भी ये एक बात बस की महावीर बात का है ही सही है आपने हाँ, महावीर का महावीर का है। बिल्कुल ठीक है અહંકારી કથા हाँ, पर केवल ज्ञान का अलग है कैसे अगर ऐ- केवल ज्ञान अगर ऐसा होता और कटाई का अभाव करने के लिए सब जगह हो गया है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बना कर ही जाते पर बने बाद में એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવી જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पति है क्योंकि प्रशस्त राग था इनके हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सत्तू भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सत्तू तो मैंने बोल दिया भरे रह रहे तो वो प्रशस्त हाँ राग क्या कम से काम कम करता है प्रशस्त तो मत प्रशस्त करो राग क्या काम करता है संसार संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है इसलिए सबका प्रशस्त राग मेरी पर है बस दूसरा कुछ नहीं। गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है जी ગૌતમ का महावीर के प्रति प्रशस्त प्रशस्त राग राग प्रशस्त हाँ और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके हाँ महावीर गणेश समाप्त हो गया और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी हम्म। उनको समाधि हो गई चिंता मट गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं दो मिलने वाला ये भी हो तो गया मतलब भाई धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है कि सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं और हिंदुस्तान में और जो जिन्हें पुण्य धर्म समझता है हाँ, हाँ। वहाँ विकास का धर्म खुला हो जाए समझता है अच्छा अच्छा क्रम है अभी नहीं है नहीं हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ वितराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारे पास मैंने एक बोलता है कि तुम्हारा सत्य तुमने कैसा सत्य दीक्षा दिया तो, तो आपको कैसा दिखता हो होगा हमने हमारे गुरु कारण ने दिखता दिया है हाँ। देखो घट की दिखता है सच्ची दीक्षा नहीं ये विकराग की दिखता है सच्ची दिखता है घट की दिखता एकांतिक दिखता है अनेक है हम्म। हमने अनेक दीक्षा दिया है और जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बात की बात है चरित्र बात की बात है और वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ। तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था कि नौकार मंत्र हम कितने आदमी देता है कि फलित क्यों नहीं होता है हम्म। मैंने बोल तुम्हारा समझ में नहीं आता है तुम्हारी की समझ नहीं हुई है तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी तरह दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज दर्दी को आराम होना चाहिए हम्म। तो बोल मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दर्दी भी अच्छा है क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नौकार नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको तो ये बोलने लगा कि नमो अभिहंताम नमो सिद्धाम नमाय तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धाम बरोबर है नमो आयरियान बरोबर है नमो वज्रायण बरोबर नमो रोहित बरोबर बरोबर नमो हरिहंताम किसको बोलता है कई बार तो बोलने लगा तुम्हारी शिष्य तो देखो आप विचार करके बोलो तुम्हारी शिष्य तो सिद्ध हो गया हम्म, अरिहंता में नहीं है और सिद्ध को हरिहंत कैसा बोल रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, मेरी बहुत बड़ी भूल होती है तो पहले से भूल गई આખા માર્ગ ઉપર એ ભૂલ ચલ રહી है અને इसे नौकार मंत्र फलीभूत नहीं होता है तो फिर हमने बोलने लगा कि क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि धीमज स्वामी का अरिहंत मान दो इसके अभी अभी है अभी है धर्मेंद्र स्वामी इधर भी है मगर है आप समझ जाने प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो वो सिद्ध हो गया और सिद्ध को अपने ये बोलना अरे बोलना ये आचार्य को आज भी उपाध्याय बोलना आज चाहिए भी एक नहीं વીસ છે. हाँ बीस तीर्थंकर तो बिहर माँ और और भी ज्यादा हो सकते हैं એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહરમાં છે नहीं वो भी सिद्ध की बात होती है और हिमंत स्वामी की बात होती है हाँ हाँ वे भी है अपने ये भूमिका के लिए ये भारत भूमि के लिए स्वामी की बात और हम्म। वो सबके लिए बात हो हम सबको भलामण करता है कि कोई बोलना आपको और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमारा आश्रम रखने वाला आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है કે આપની નહીં અમારી બી નહીં है તમારો નથી ને અમારો નથી नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब लोग नहीं नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ छोटा बड़ा आश्रम मैं बोली, मेरे को ऐसा आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सब अभी आज दूसर का है ना दूसर का में आश्रम में विश्राम करता है सब लोग पर मगर कितने लोग तो ऐसे ही करता है आप कितने बच्चे का और सत्संग करो फिर हमको एक संकेत हुआ हाँ। कि सिमंदर स्वामी का मंदिर बनाओ हम्म। और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव हम्म। जो पुरुष है हम्म। इसका एक मंदिर बनाओ और इनके साथ नमस्कार का मंदिर बनाओ हम्म, इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है अच्छा। तो इसलिए तैयारी हो गई ये तीनों रखे आपने ठीक है मंत्र में भी तीनों रखे એટલે आपने। મ- મંત્રમાં પણ ત્રણેય છે हाँ श्रीमंत के क्योंकि वो आचार्य मेरे मेरी मेरे ख्याल आया सितंबर लोग हम्म, बड़ा आचार्य था हम्म, मैंने बोलना कि क्यों ऐसा करता है आप हम्म, मंत्र था नौका मंत्र में इससे दोनों क्यों लगा दिया आपने हम्म। मैंने मैंने इनको समझाया है कि सज्जा करने का चाहे छोटा करने का है हम्म। तो सज्जा करने का तो सज्जा की बात समझ दो नौकार मंत्र है हम्म। वो संयस्त मंत्र है क्या है संयस्त है वो सब लोग के लिए नहीं है संयस्त